और कुर्बानी के ऊंट और गाय को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर में शामिल किया है तुम्हारे लिए उनमें भलाई है चुनाचे जब वो एक कतार में खड़े हों उन पर अल्लाह का नाम लो फिर जब जिबा होकर उनके पहलू जमीन पर गिर जाएं तो उनके गोश्त में से खुद भी खाओ और उन मोहताजों को भी खिलाओ जो सब्र से बैठे हों और उनको भी जो अपनी हाजत जाहिर करें और इन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे ताबे बना दिया है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो